चालीसा के चालीस चौपाइयों में से पहली चौपाई का चिंतन हम लोगों ने प्रारंभ करा था दो महत्वपूर्ण अति सुंदर गागर में सागर तुल्य प्रारंभ के दोहों के बाद ये चालीस चौपाइयों की हनुमान जी की जो स्तुति है जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है इसीलिए इसका नाम चालीसा है और ये पहली चालीसा है जो हम लोगों के सनातन धर्म के पूरे साहित्य में सबसे पहली बार लिखी गई है उसके बाद तो चालीसाओं की पूरी जो है वह जैसे बाढ़ आ गई इतनी सुंदर लगी सबको ये चालीस चौपाइयों वाली रचना कि उसके बाद तो पता लगा कि भगवान राम जी की चालीसा शिव जी की चालीसा दुर्गा चालीसा सभी चालीसाएं जो है वह एक के बाद एक लिखी जाने लगी हरिओ हरिओ नमस्कार तो ये जो चालीस चौपाइया हैं इसका श्री गणेश अरे राम चालीसा दुर्गा चालीसा तो छोड़ो आजकल तो लालू चालीसा क्या है <laughs> ऐसी चालीसाओं की रचना चली कि आजकल तो भैया जिसकी स्तुति करो जिसका भजन चाहो पहले पूछा जाता है चालीसा बताओ यार उसकी कौन सी चालीसा कौन सा पाठ करो तो ये देखो रचना कितनी अद्भुत रही कोई भी साहित्यकार के लिए ये कितनी बढ़िया बात है कि इतना हृदयंगम हो जाती है इतना पाठ करने में सुंदर है गाने में सुंदर है ध्यान करने में सुंदर है प्रार्थना करने में सुंदर है और सभी हनुमान जी के अनेकों गुण इसके अंदर समाये उनके तत्व समाये हैं उनके उपदेश समाये हैं उनकी लीलाएं समाये हैं तो ये एक स्तुति है हनुमान जी की एक स्तुति है उनका गुणगान गाने का सबसे सुंदर भजन है जो कि गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है और इसीलिए सब भक्त इसको तो गाते ही गाते हैं यही नहीं है कि हम लोग ऊपर से उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम कहीं चले जाएं हनुमान चालीसा को याद कर लो ना जैसे राम राम हर जगह चल जाता है वैसे हनुमान चालीसा तो देश विदेश में हर जगह हमारा जो है वहां इंग्लैंड जाना हुआ कनाडा जाना हुआ कहीं हिंदू मंदिर में जाओ तो हर जगह हनुमान चालीसा आती है ना तो आप सबके साथ तालमेल बैठा दो वही पार्ट होता है ये बात अलग है कि बड़े कम को इसकी गहराई पता होती है गा लेते हैं श्रद्धा से गा लेते हैं ये बहुत ही चिंतन योग्य भी है तो वैसे तो हम सलाह सबको ही देंगे कि जिसको नहीं पता है वो भी उसका पाठ करना दिन में चालू कर दे आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है भक्ति प्राप्त होती है प्रेरणा प्राप्त होती है हनुमान जी जैसा व्यक्तित्व तो बनता है बल बुद्धि विद्या से युक्त अत्यंत बलवान अत्यंत बुद्धिमान अत्यंत ज्ञानवान भक्ति से युक्त गुणों से युक्त ज्ञान के सागर भाई जिसकी आराधना आप करोगे उसी के जैसे बन जाओगे इसीलिए जो हनुमान चालीसा अगर बच्चों को सिखा दे तो उसके जीवन में ज्ञान भक्ति गुण आदि का एक आदर्श स्थापित हो जाता है जिस प्रकार से आप किसी के अंदर श्रद्धा के बीज डाल दो अगर ये व्यक्तित्व तुम्हारा जीवन में हो गया तो तुम यहां से सफल हो जाओगे हर प्रकार का तुम्हारा कल्याण होगा इतना अद्भुत हनुमान जी का व्यक्तित्व इसीलिए जिसको नहीं पता है वो भी नित्य पाठ करे और बाकी जो है अनेकों दूसरी चीजों को छोड़ो इसमें फल श्रुति में बताते हैं कि आपको कैसा भी कष्ट हो ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ाए कोई भी पीड़ा हो सब चीजें जो है हनुमान जी की कृपा से दूर होती है अगर आदमी ये पढ़ता है तुलसीदास जी ने अंत में तो ये भी फलश्रुति कही कि जो सतबार पाठ कर कोई ये हनुमान चालीसा की भी स्तुति हम बता रहे हैं इसकी भी महिमा बता रहे हैं कि अगर आपको जीवन में कोई विशेष संकट हो तो सौ बार पाठ करने का अनुष्ठान करो जैसे अनेकों संत लोग होते हैं ना मंत्रों का लाखों बार जप करते हैं संकल्प लेके और वो फल की सिद्धि हो जाती है तो यहाँ गोस्वामी जी बोलते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में अपने अपने कष्ट हैं अगर आपको कोई कष्ट विशेष है तो हम हनुमान चालीसा के पाठ की महिमा बता रहे हैं ऐसा सिद्ध मंत्र जैसा है उसमें पाठ करने के पूर्व आदमी संकल्प ले उस दिन पूरा जो है छुट्टी रखते हुए अनुष्ठान करे अब आप लोग तो बहुत स्पीड से गा लेते हैं बढ़िया से भक्ति से गा लेते हैं थोड़ा जल्दी हो जाए जो नए लोग हैं कम से कम सात आठ घंटे उनको सवेरे से शाम तक लग जाते हैं प्रेम से धीमे धीमे गाओ थोड़ा थोड़ा हर चालीसा के पाठ के बाद थोड़ी सी आरती कर लो थोड़ा सा भजन कर लो एक तो इतना आठ घंटे में आपके जीवन के किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान ये गोस्वामी जी का वचन है और कितने ज्ञानी थे जिनको भगवान राम ने दर्शन दिए जिनको हनुमान जी ने रास्ता बताया चित्रकूट के घाट पर हाँ, जब वहां पे सब भीड़ लगी थी हनुमान जी ने आके जो है वह गोस्वामी जी का परिचय भगवान से कराया इतने महान सिद्ध संत थे उन्होंने ये रचना लिख के बताई है कोई आश्चर्य नहीं है कि दुनिया भर में इसके गुणगान है तो हनुमान चालीसा की बड़ी सुंदरताएं हैं लेकिन वो खुद जो हनुमान चालीसा की विशिष्टता बताते हैं बोलते हैं हनुमान जी की भाई इसमें आपको स्तुति है और जहां पर भी कोई रचना होती है जो श्री गणेश होता है जो प्रारंभ होता है उसी में उसका मूल प्राण होता है तो वो कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर श्री गणेश होता है कि हनुमान जी आपकी जय हो हम आपको देखे आपका स्मरण करके जो हनुमान शब्द से हमारे मन में एक रूप आता है तो यह हमको एक विधि बता रहे हैं कि हनुमान चालीसा का जब हम लोग पाठ करते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी का रूप आना चाहिए कोई तत्व वगैरह नहीं प्रारंभ में रूप आना चाहिए हनुमान शब्द के अंदर जो है पूरी कहानी छुप हुई है हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा था ये पिछली बार भी हमने थोड़ी चर्चा करी थी बचपन में जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने सूर्य को देखा और सूर्य देवता को निकलने के लिए यूजेटी चल पड़े उस समय जो है वह राहु सूर्य को ग्रसने जा रहा तो यहाँ हनुमान जी जा रहे थे और उन्होंने सूर्य को ग्रसने के लिए जहाँ आगे बढ़े तो राहु देवता ने इंद्र से बोला महाराज जी आपने हमको ये काम दिया हुआ है कि सूर्य को ग्रसने के लिए ये कौन आ रहा है तेजी से तो इंद्र देवता ने भी कथा आती है कि देखा कि ये कोई वानर जाके सीधे सूर्य को ग्रसने के लिए बढ़ रहा है उन्होंने अपने वज्र का आघात उस बाल हनुमान के ऊपर करा वज्र जो है वो है सा एक शस्त्र होता है इंद्र देवता का जिसको कोई से नहीं पाता है पहली चीज तो हनुमान जी छोटे से थे उन्होंने वज्र को झेल लिया इससे पता लगता है कितने शक्तिशाली थे कि भयंकर वज्र को उन्होंने सह लिया लेकिन नीचे जाके गिर गए उनका रास्ता अवरुद्ध हुआ बाधित हुए और इतनी प्रचंड शक्ति आती है वज्र में कि वो नीचे जाके पृथ्वी पे गिरे और बेहोश भी हो गए और वो वज्र जो है उनकी थोड़ी में लगा था और ठोड़ी में लगा था तब से ही उनकी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी संस्कृत में थोड़ी को अनु बोलते हैं तो थोड़ी उनकी बड़ी हो गई बाकी वानरों की अपेक्षा कभी हनुमान जी दर्शन दे दे तो पहले थोड़ी देखना भैया बड़ी है कि छोटी है तो जिनकी थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है उनको बोलते हैं हनुमान वैसे तो थोड़ी सभी की होती है हाथों की हो हमारी है लेकिन सामान्य थोड़ी को हम लोग कोई विशेष थोड़ी नहीं कहते जब नाम दे दिया जाता है ना अब जैसे धनवान तो सभी हैं सबके जेब में देखो तो कोई ना कोई तो रुपए पैसे होंगे ही ना थोड़े बहुत लेकिन इतने मात्र से क्योंकि जेब में कुछ नोट है हम धनवान थोड़ी कहे जाते हैं वैसे थोड़ी है तो हनुमान हम थोड़ी कहे जाएंगे लेकिन जब विशेष माल हो तो कहा जाएगा ये धनवान है उसी तरीके से जब विशेष थोड़ी हो आपकी पहचान ही बन जाए आपकी तब नाम दिया जाता है कि ये हनुमान है इसीलिए सबसे पहले जहां पर आप उसको हनुमान चालीसा का पाठ चालू करें अपने मनी मन हनुमान जी का वानर का रूप जय कपीस कपियों में श्रेष्ठ विशेष थोड़ी वाले थोड़े से बड़े ऐसे हनुमान जी को व्यक्तित्व को मन में लाए और उनको इस नजरों से देखें इंद्र देवता भी खुश हो गए मतलब सही बात है भैया हम ही ने मारा था <laughs> सर्वचन है सर्वचन तो ये जो हनुमान शब्द है इससे हनुमान चालीसा का प्रारंभ होता है और जिस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करें इसको एक उपासना बना दें इसको थोड़ी देर एक ध्यान बना आंख बंद करके हनुमान जी का सुंदर रूप हो बलवान अच्छी तरीके से विशाल काय शक्तिशाली और असली पहचान थोड़ी बड़े हो हाँ बढ़िया जो है हाथ पैर मजबूत दिखाई पड़ते हो और छप्पन इंच की छाती वाती तो छोटी हो जाती है उससे भी बड़ी छाती वाले हो ऐसे विशाल काय भगवान हो ऊपर शरीर बहुत सुंदर बलवान है और हृदय में राम जी की भक्ति है और बुद्धि में सत जीवन का ज्ञान विद्यमान इनके लिए एक श्लोक आता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानियों में जो सर्वश्रेष्ठ है अग्रणी है ऐसे हनुमान जी को देखो हनुमान जी को किस नजरों से देखना है ये ही यहाँ इस उपासना का प्रयोजन है जिस समय ये कथा जो आती है जो अभी इंद्र देवता चाह रहे कि हम ना बताएं इसीलिए बहुत विघ्न डालते हैं कि वो पोल मत खोलो हमारी हाँ, लेकिन हम वो भी बताएंगे और जब ये बता देंगे तो चुप हो जाएंगे हमको पता है तो उस समय क्या हुआ जब इंद्र देवता ने वज्र उनको मारा तो बेहोश होके गिरे तो उनके पिताजी जो कि पवन देवता हैं वो इतने नाराज हो गए इंद्र देवता से उन्होंने बोला है कि भाई इस बालक ने आपको क्या बिगाड़ा था कि जाके वज्र मार दो इसके ऊपर ये तो जो है कोई विदेश की बात नहीं है भाई छोटा बच्चा है जा रहा है तो आप सीधे एटम बम मार रहे हो उसके ऊपर ऐसा कैसे होता है तो हम जाके नाराज हो जाते हैं जाओ आप ना हमारी कदर करते हो ना हमारे बालक की करते हो अब हम हड़ताल पे जाते हैं और पवन देवता हड़ताल पे चले गए पता लगा सब पूरी दुनिया में उन्होंने पवन बंद कर दिया हवा का संचार ही बंद हो गया प्राण केवल बाहर ही नहीं हर व्यक्ति के अंदर भी चलते हैं प्राण पान उदान समान ज्ञान ये सब पंच प्राण हमारे शरीर को चलाते हैं सांसें चलती हैं हृदय धड़कता है और पूरी दुनिया में जो है ये सब वायु का संचार होता है कर लो जितना विघ्न करना है कर लो रुके पूरी कोशिश जारी है कि मैं कहानी बता जिस समय ऐसा हुआ तो हाहाकार हो गया पूरी दुनिया में सब जितने प्राणी लोग थे देवता लोग थे वो भी त्रस्त होने लगे जब सांस ही न ली जाए तो फिर कोई क्या करे तो सब गए उनके पास बोलते हैं कि भाई गलती हो गई हमको इतना ज्यादा बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था लेकिन हमारे आक्रोश में क्रोध में आके राहु देवता ने ऐसा बोला तो हमने गुस्से में आके फेंक दिया बस चलो गलती हो गई हाँ दिया आप क्षमा करो भाई उसे क्षमा मांगी उसे तो। फिर क्या करो उन्होंने बोला जितने देवी देवता सबको बुलाओ यहाँ पे अपने जितना समूह है आप तो देवताओं के राजा ठहरे तो सब देवी देवताओं को यहाँ बुलाओ और जिसके पास जो ज्ञान है शक्ति है सब लोग अपना अपना आशीर्वाद उसके बालक को तो ये छोटा बालक जिसकी आपने थोड़ी तोड़ दी है चलो ठीक है जो समर्थ तो होता है देखो जो अगर शरीर में कुछ कमी नमी हो जाए ना उसको दूर करने का क्या तरीका है ये यहाँ पे पवन देवता सबको सिखा रहे हैं बोलते ऐसा मत करो डॉक्टर के पास जाके बोलो ऑपरेशन कर दो ठोड़ी का बोलते छोड़ो यार क्या दिक्कत की बात है और बुद्धिमत्ता का तरीका होता है भगवान शंकर ने जिस समय विष पी लिया था तो उनका कंठ कंठ नील हो गया था ना उन्होंने क्या कोई कॉस्मेटिक लगाया पार्लर में जाके भैया हमारा गला नीला हो गया है काला काला हो गया है कुछ लिपा पोती करो कुछ नहीं ऐसा व्यक्तित्व महान बना लिया कि वो नीला रंग भी ब्यूटी स्पॉट हो गया समर्थ के अंदर जो भी होता है वो सुंदर होता है ये जीवन का रहस्य सीख लो देखो अनेकों लोग होते हैं बड़े बड़े एक्टर लोग कोई गंजे हो जाते हैं लेकिन क्योंकि महान एक्टर हैं उनके अनुयायी लोग जाते हैं और नाई के पास जाते हैं बोलते हैं पूरा साफ करो भैया बोला क्यों हमको उस जैसा बनना है क्योंकि जब महान में समर्थ में जो होता है वो आदमी के लिए प्रेरक हो जाता है सुंदर हो जाता है अनुकरणीय हो जाता है इसीलिए उन्होंने देखिए क्या करा उन्होंने इंद्र देवता से बोला कि इसको इतना समर्थ बना दो अच्छी है बंदनी और सोजनी है बन जाए सब चीजें दूषण को भूषण बनाना हो तो आदमी को सामर्थ्य का ज्ञान का आशीर्वाद हो जाए अब हमारे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे वो शकल सूरत में कोई बढ़िया नहीं है लेकिन बुद्धिमान है ज्ञानवान है देश के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े शोध करे एटम बॉम्ब बनाने के लिए योगदान दिया आज वो आदरणीय है समर्थ इसीलिए अगर शरीर में कुछ कमी हो तो चिंता मत करो हमारे अष्टावक्र ऋषि जी कथा सुनी ना उनकी अष्टावक्र हैं उनका नाम ही पड़ा अष्टावक्र क्योंकि आठ जगह से वक्र थे शरीर टेढ़ा था आठ जगह से वक्र था लेकिन इतने महान ऋषि हुए कि आज भी जो है अष्टावक्र जी की गीता पढ़ी जाती है महाराज जनक के गुरु जी थे सीता जी के जो पिताजी थे महाराज जनक उनके गुरु अष्टावक्र सत्यों का ज्ञान देने वाले उनके मुझसे भी गुरु थे लेकिन उन्होंने अनेकों विदों की सभाएं बुलाई और उसमें से तो उनका इतना ज्ञान अष्टावक्र जी से मिला है उनके संवाद को ही अष्टावक्र गीता का नाम दिया जाता है इतनी जगह से मतलब थे इसीलिए ज्यादा इसकी चिंता नहीं करो अगर भगवान ने कुछ आपके अंदर कमी दी है अगर लगता है कि कोई दूषण है उसको भूषण बनाने का तरीका होता है अपने अंदर सामर्थ्य जगा लो ज्ञान जगा लो गुण जगा लो तो जैसे भी हो गए आगमनीय हो जाते हो आगमनीय तो उन्होंने ये तरीका निकाला बोले कोई चिंता की बात नहीं है अभी बच्चा जो है आप लोगों के आशीर्वाद से जीवित हो जाएगा और उसकी पहचान ही बन जाएगी लाखों वानरों में वो अलग ही दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ आप सब लोग आशीर्वाद दो जिसके पास जो ज्ञान है जिसके पास जो गुण है जो जबरदस्ती निकलवाया सबसे ज्ञान और इसीलिए हनुमान जी ऐसे बन गए जहाँ पे आगे क्या कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तो तब से ही पैदा होते ही ऐसी घटनाक्रम चला कि वह उसी दिन हनुमान भी कहलाए और ज्ञान और गुण के सागर भी बन गए तो जिस समय हम लोग अपने ही मन हनुमान जी का विग्रह लाए उनका रूप लाए उसी के साथ साथ इस नजरों से उनको देखो कि ये ज्ञान के सागर हैं ये गुण के सागर हैं तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी को इस नजरों से ही देखो बहुत सारी नजरों से हर इंसान देखता है अरे को लग वो तो पहलवान हनुमान जी पहलवान अब अखाड़े में जाओ तो जय बजरंग बली और वहाँ पे तेल मालिश हो रही है और हनुमान जी जैसे बनना चाहते अब कोई लोग बोलते हैं हनुमान जी भगवान का भजन करते रहते हैं भजन भी करते हैं वो भक्ति के आचार्य हैं वो खुद भी भक्ति से युक्त हैं हनुमान जी की कृपा से भक्ति का आशीर्वाद किसी को मिल जाता है नारद भक्ति सूत्र भक्ति का ग्रंथ है जिसमें अनेकों भक्ति के आचार्यों में हनुमान जी का आचार्य की तरीके से नाम आता है कि भक्ति के आचार्य आचार्य वो होते हैं जो आपको ज्ञान दे देते हैं तो हनुमान जी के अंदर भक्ति है लेकिन गोस्वामी जी बोलते हैं नहीं हम इस नजरों से नहीं चाहेंगे कि तुम हनुमान जी की स्तुति करो भक्ति का ही ज्ञान होना चाहिए भैया अब भजन तो कर लो कितने सारे लोग भजन करते हैं रावण भी तो शिव जी का भजन करता था ना लेकिन रहा तो असुर भजन में आदमी के अंदर ज्ञान होना चाहिए किसको भजन बोलते हैं कैसे भजन होता है भगवान कौन है किसका गुणगान गा रहे हो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना बस ये तो पंडित जी को बुलाए बोला हाँ जब हम बोले स्वाहा तो फेंक देना बोला हाँ पंडित जी बैठे बोलते स्वाहा ठीक अब ज्ञान ही नहीं रखो तो यार क्या भजन कर रहे हो नाम के लिए तो तीरथ हुआ है वहां क्या कौन से श्लोक बोले थे कौन सी स्तुति करी थी कुछ पता है तुमको ज्ञान होना बहुत इसीलिए भजन तो जरूर करो जो ज्ञानवान होता है वो सदैव भगवान का भजन करेगा सहज रूप से करेगा उन्हीं के चरणों में अनुराग रखेगा प्रेम रखेगा लेकिन महान चीज क्या है ज्ञानी भक्त होने से गीता के सातवें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन चतुर्विधा भजनते माम जना सुकृति अर्जुन चार प्रकार के पुण्यात्मा लोग हैं सुकृति लोग हैं सुंदर कर्म जिन्होंने करा है वो सुकृति लोग भजन से नाम हमारा भजन करते हैं आर तो अर्थार्थी ज्ञानी से भरतर आर्ट भक्त होते जिज्ञासु भक्त होते अर्थार्थी भक्त होते हैं और ज्ञानी भक्त होते हैं और इनमें सब लोगों की बोलते हैं सभी भक्त हैं यदि थोड़े से बहुत गुण दोष रहते हैं अर्थार्थी भक्त वो होते हैं जो मेजोरिटी रहते हैं जब अर्थ की प्रार्थना करनी होती है कोई चीज का प्रॉब्लम है समस्या है भगवान ये कष्ट है वो कष्ट है तब जाके जो भजते हैं भगवान को उनको अर्थार्थी भक्त बोलते हैं आर्थ भक्त होते हैं कि सामान्यतः कर्म करते हैं धर्म धर्माचरण करते हैं लेकिन जिस समय नाक के ऊपर से पानी जाने लगता है तब बहुत तीव्र आर्त वेदना करते हैं जैसे हमारी द्रौपदी जी शुरुआत में तो उन्होंने चिर हरण हो रहा था बहुत प्रयास करा लेकिन जब इसमें आदमी हार जाता है कहीं पे कोई जो है आसरा नहीं होता है जब वो तीव्रता से जो मन में वेदना होती है तो बोलते हैं आर्त वेदना और आरती जो हम लोग करते हैं वो उसी आर्त वेदना की जब होती है तब आरती भी फलित जल्दी होती है अगर उसमें तीव्रता नहीं होती है तो आरती का भी जो है उसमें हम लोग आर्थ भक्ति नहीं कर पाते जितनी आरती होती है वो हमको आर्त भक्त बनाने की एक साधना हो भले आपको कुछ चाहिए हो बोले चलो शुरुआत में तो जो भी कर लिया लेकिन आरती के समय हम लोगों की परंपरा ही है भैया खड़े हो जाओ सब लोग और चलो आरती करो और उसके बाद जो है वहाँ आरती के बाद आरती लो भी प्रसाद भी लो आरती तो बड़ी महिमा है हम लोगों के धर्म आरती ऐसी साधना होती है जिसमें थोड़ी देर के लिए आर्त तो भक्त बनने का आशीर्वाद हो जाता है तीव्रता हो जाती है सब चीजें भूल जाती है तो आर्त तो भक्त दूसरे होते हैं तीसरे भक्त होते हैं जिज्ञासु भक्त उनको कोई कष्ट नहीं है उनको कोई समस्या नहीं है उनको कोई संसारी चीज की इच्छा भी नहीं है उनके मन में एक इच्छा है कि हमको जीवन में परमात्मा का ज्ञान हो आत्मा का ज्ञान हो तत्व का ज्ञान हो तो उनको बोलते हैं जिज्ञासु शास्त्र का ज्ञान हो गीता में क्या कहा है वेदों में क्या कहा है उपनिषद में क्या क्या है हमारे ऋषि मुनि लोग क्या देखे गए हैं तो वो लोग जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं तो ऐसे लोग अनेक को भगवान बोलते हैं हमारे पास आते हैं मंदिर में भी आते हैं कुछ नहीं मानते केवल बोलते भगवान हमको ज्ञान दियो यो न प्रचोदया हमारी बुद्धि को जगा दीजिए हमको ज्ञान का आशीर्वाद दे दीजिए हमको अपने गुरु का प्रसाद मिल जाए हाँ? गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान हृदयंगम हो जाए समझ में आ जाए यही उनकी प्रार्थना रहती उनको जिज्ञासु भक्त देते लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं जिनके अंदर ज्ञान ज्ञानी च भरतर्षभ हे भरतर्षभ हे भरत कुल में श्रेष्ठ ऋषभ की तरह बलवान की तरह हे अर्जुन जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो हमको बहुत प्रिय होते हैं क्योंकि उनको पता है हम कौन है बाकी भक्तों को भी पता भी नहीं है भगवान कौन होते जिस रूप में हमको परंपरा ने बता दिया है कि भगवान ये होते हैं हम उस रूप को पकड़ते हैं उस रूप में भगवान क्या होते हैं ये हमको कुछ पता नहीं है श्रद्धालु है वो लेकिन ज्ञान नहीं भगवान का तत्व ऐसा होता है जो भजनीय होता है गुणगान करने योग्य होता है कुछ नहीं चाहिए न जानना है न लेना है न देना है मगन रहना है हाँ? उन्हीं का गुणगान गाना है वो ज्ञानी भक्त होते और ज्ञानी भक्त का गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन हम और वो कभी अलग नहीं होते वो हमारी आत्मा होता है और हम उसकी आत्मा होते हैं ये अलग होता है तो इसीलिए हनुमान चालीसा का प्रारंभ करते हुए गोस्वामी जी बोलते हैं कि भैया अपनी नजरें बदलो अपना ज्ञान बदलो हनुमान जी को किस प्रकार से देखना चाहिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ज्ञान के सागर की तरीके से तुम बजरंग बली को देखना प्रारंभ करो भैया अगर ऐसे नजरों से देखोगे भी नहीं तो वो तुमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा देखो एक रहस्य की बात है आप जिसको जिस नजरों से देखते हैं ना आपको उतना ही आशीर्वाद मिलता है अगर कहीं किसी को आपने इस नजरों से देखा कि भैया इसके गजने से बीमारी दूर हो जाती है अब इतना ही देखो अगर इनका भजन करने से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो हो जाएंगी इतना जरूर हो जाएगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा न तुम्हारी इच्छा है न तुम्हारी प्रार्थना है न तुम्हारा संकल्प है भगवान देना भी चाहेंगे बोले नहीं भगवान हो गया हो गया कृपा हो गई आपकी बोलते हैं यार अभी तो कृपा करी नहीं भैया अभी हमने बोलते नहीं हो गई महाराज जी हमें क्या हुआ है बोलते दीदी सुधर गई है महाराज हो गया काम जो तो होना तो हो चुका बोला अच्छा यार यही करना था तुमको तो ये जो है आदमी किस नजरों से किसी देवता को देखता है उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि कितना आशीर्वाद मिलेगा अब यहाँ कोई संत है आप देखो जाके उनको किनके पास जाओगे वहां पे शनिवार को जाना मंगलवार को जाना और उनके कृपा मिल जाएगी तो काम बन जाएगा बनेगा लेकिन बस उतना ही काम बन जाए फुल स्टॉप उसके बाद वो चाहेंगे भी तो नहीं दे सकते की से समझेगा इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हनुमान जी को आप ज्ञान और गुण के सागर की तरीके से देखना प्रारंभ हो जीवन में एक नया मोड़ प्रारंभ होगा पहली चीज तो आपको ज्ञान के द्वारा सब चीज का रहस्य पता लग जाएगा अपने भगवान का परिचय प्राप्त हो जाएगा देखिए जितने भी सत्संग होते हैं कथा होती है उसमें होता क्या है भगवान का परिचय मिलता है हमको किसको भगवान बोलते हैं कथाओं से लीलाओं से प्रवचनों से कई संवादों से धीमे धीमे हमारे अंदर जो है प्रकाश होता जाता है हमको अपने भगवान का परिचय मिलता है हमको अपना परिचय मिलता है हमको भक्ति का परिचय मिलता है अनेकों चीजों का परिचय मिले तब जाके आगे कोई साधना करो ये बुद्धिमान लोगों का तरीका है इसीलिए आप जो करो चलो बाद में लेकिन यहाँ गोस्वामी जी बोलते हैं भैया हनुमान जी को मन में ला के इस नजरों से ही देखो देखो तुम्हारे जीवन में कैसे आशीर्वाद का द्वार खुल जाएगा ज्ञान गुण सागर जितना ज्ञान है सब का सब ज्ञान हनुमान जी के अंदर विद्यमान बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जरा समझे रहो यह मत बोलना नहीं स्वामी जी हम तो राम जी का भजन करते हैं शिव जी का करते हैं माता जी का करते हैं फलाने का करते हैं बोलते हैं तो तुम्हारी उपासना नहीं हो पाई अगर हनुमान चालीसा का पाठ करके तुमको ये उपासना करनी है ये आध्यात्मिक साधना करनी है तो हनुमान जी को अपने मन में लाके जयकार करो और इनको देखो कि ये सागर है ज्ञान के सागर उसको बोलते हैं जिसका ओर छोर नहीं दिखाई पड़ता है अब हम लोग जब कोई नदी देखें बड़ी चौड़ी नदी देखें कई बार जो है वह गंगा जी को तीरथ तीरथ में जाओ गंगा सागर में भी जाओ तो दूर अगर सागर तक नहीं पहुंचे हो तो दूसरा छोर दिख जाता है सागर में जाने के बाद दूसरा छोर ही नहीं दिखाई पड़ता है सागर अनंतता का प्रतीक है सूचक है अनंत ज्ञान है सब कुछ ज्ञान जिसके अंदर दूसरे के अंदर कल्पना नहीं करो नहीं इसका मतलब क्या दूसरे को देवी देवता नहीं होते हैं आप तो महाराज जी हनुमान जी की ऐसी भक्ति करा रहे हैं कि हमारी दूसरी भक्ति छोड़वा देंगे बोलते भैया ऐसा है कि हिंदू धर्म के अंदर एक बड़ा मूलभूत सिद्धांत समझ लो कि एक अपने इष्ट देवता में सब देवताओं को देखने का सिद्धांत होता अगर कोई जो है केदारनाथ जाए तो वहां पे शिव जी के अंदर सबको देखना चाहिए आधुनिक मंदिर जो है ना वो अलग होते हैं आधुनिक मंदिर क्या हो गए म्यूजियम बन गए यार पूरे जितने देवी देवता सबको बैठाना पड़ता है और मंदिर का जो ट्रस्ट है वो ऐसा क्यों करता है बोलते हैं स्वामी जी जितने भगत आएंगे सबकी दक्षिणा में लेके गणित वहां से कोई ना कोई कमर्शियल है दक्षिणा लेना उनका प्रधान हो गया है वहां कौन चाहता है मंदिर में आप जाते हो दर्शन करते हो आपका आध्यात्मिक उत्थान हो किसी मंदिर में आपको जाके कोई आध्यात्मिक उपदेश देता है आत्मा परमात्मा का भक्ति का ज्ञान देता है कोई नहीं दे रहा तो ये आजकल के समय जो स्थिति है वो थोड़ी बिगड़ चुकी है प्राचीन मंदिरों में देखो भगवान विष्णु के चार धाम हैं बद्री रामेश्वरम द्वारका और अपने उड़ीसा में जगन्नाथपुरी ये विष्णु भगवान के चार धाम है वहां भगवान विष्णु की ही पूजा होगी ऐसा थोड़ी दूसरे कोई बैठाओ ये मूर्खता है ये अज्ञान है आप क्या करते हो आपको पता है उस समय आप एक देवता को देखते हो तो आपके अंदर तो इतनी डिपार्टमेंट है ये आपकी शक्ति है और फलाने के अंदर दूसरी शक्ति है दिमाग के अंदर दूसरी शक्ति है आप अपने इष्ट देवता को ही सर्वसमर्थ नहीं देख रहे हो सब कुछ उसमें समाना चाहिए कम से कम अपने इष्ट देवता को तो परमात्मा देखना सीखो देवादिदेव देखना सीखो सर्व समर्थ देखना सीखो और बाकी जिसको भी देखो उन्हीं की अभिव्यक्तियां देखो गोस्वामी जी जिस समय वृंदावन गए वहां भगवान कृष्ण के मंदिर में देखिए उपासना के रहस्य हमको बताते हैं कि मूल तत्व राम जी का ही देख रहे हैं और बोल रहे हैं उन्होंने ही ये रूप धारण करा हुआ तो कृष्ण जी के रूप में ही हमारे प्रभु विद्यमान है और ऐसा सिद्धांत जब कोई समझता है तो वहां अपने भगवान को रूप नहीं देखता है वो तत्व देखता है ज्ञान के धाम देखता है सच्चिदानंद देखता है सच्चिदानंद का कोई रूप नहीं होता है आप किसी भी प्रार्थना में देखिए भगवान को जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद बोलते हैं ना सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है जो सत है जो सत्ता है वो सत्ता चिन्मयी है चेतन है और वो आनंदमय है आनंदमयी चिन्मयी सत्ता को सच्चिदानंद कहते हैं ये भगवान का तत्व है तो शुरुआत तो भले एक रूप से करो लेकिन उपासना का प्रयोजन ये होता है रूप से स्वरूप तक की यात्रा इसको बोलते हैं पूजा का प्रयोजन जिस साधना के अंदर आप रूप को देख के परमात्मा के मूल तत्व तक जा नहीं पाओ वो साधना आपको वो भजन आपको कैसे आशीर्वाद देगा इसीलिए वो सब गलत हैं अनेकों लोग भजन करते हैं नित्य कोई ही नहीं मिलता है दीन रहते हैं अभाव से युक्त रहते हैं विकार रहता है शांति रहती है दुनिया भर के जो है मन में पीड़ा होती है शोक होता है देखो भैया जो दूसरे धर्मों में भी देख लो अनेकों लोग पांच हजार दिन में नमाज भी करने वाले लोग एक तरफ से खुशी होती है कि भगवान का कोई भी रूप हो कम से कम पांच बार भजन कर रहे हैं लेकिन विडंबना क्या है कि जहां आतंकवाद होता है यह नमाजी लोग बैठे हुए हैं क्यों हो रहा है क्यों तुमको तुम्हारा भजन मन के विकार क्रोध हिंसा को दूर करने के लिए आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहा है तो कोई दोष है उनकी पूजा में उनकी आराधना में उनकी इबादत में इसीलिए अपनी भजन की प्रक्रिया उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए आप जब हनुमान जी का भजन करो तो आप अपने भगवान को ज्ञान का सागर दे गुणों का भी सागर दे जितने गुण हैं सब इनमें हैं उसके बाद क्या होता है कि आप रूप का भजन नहीं करते हो आप ज्ञान का भजन करते हो आप गुणों की स्तुति करते हो और ज्ञान और गुण का जो आराधना करता है श्रद्धा रखता है जिसके हृदय में ज्ञान की ही वंदना होने लगती है उस व्यक्ति को जीवन में भक्ति मुक्ति सब प्राप्त हो सकती है जहां से ज्ञान मिले ग्रंथ हमारे लिए पूज्य क्यों होते क्योंकि ज्ञान देते हैं संत क्यों पूज्य होते हैं क्योंकि ज्ञान देते हैं सत्संग क्यों पूज्य होता है क्योंकि ज्ञान मिलता है ज्ञान की पूजा करो सदैव जहां से अच्छा ज्ञान मिले पहुंच जाओ आगे बढ़ते इस प्रकार से ज्ञान के पुजारी जो लोग हो जाते हैं उन्हीं लोगों को सब प्रकार का आशीर्वाद मिलता है हनुमान जी की वंदना करते हुए यहाँ कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हे प्रभु हे हनुमान जी आपको तो हम इस नजरों से देख रहे हैं ये रूप ज्ञान और गुण का सागर है इसी अंदाज से हम देख रहे हैं ये इतना महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को थोड़ा समय देना पड़ेगा इसी चीज में थोड़ा कॉमा लगा के पॉज बटन दबा के इसके ऊपर चिंतन करने योग्य है सार है ये प्राण है हनुमान चालीसा का श्री गणेश है हमारी उपासना के सफल होने का रहस्य है कि आप हनुमान जी को ज्ञान और गुण का सागर देखो जिस समय ज्ञान का सागर देखते हो तो क्या देखते हो आप अब आज किसी से बोले ये बड़े ज्ञानी हैं हाँ, बोले ज्ञानी होना मतलब क्या होता है हमें जी बीए करा है एम ए करा है अब बीए एम ए करने से कोई ज्ञान होता है ये हम लोग की आज की एक समाज की स्थिति हो गई है कि इसने कॉलेज से और पीजी भी कर लिया है पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है तो कितना पढ़ा लिखा है उसको ज्ञान नहीं बोलते हैं अनेकों ऋषि मुनि कौन से स्कूल में गए भाई कौन सी डिग्री है उनके पास तो वास्तविक ज्ञान क्या होता है ज्ञान के सागर हैं सब चीजों का जिसको रहस्य पता है उसको ज्ञानी बोलते हैं और मूल ज्ञान किसका होता अभी हम भजन सुन रहे थे एक भजन बड़ा सुंदर था कि गुरु की कृपा से हमारी भेद बुद्धि समाप्त हो जाती जो हमारी भेद बुद्धि को दूर कर दे वो गुरु की कृपा होती है वो आशीर्वाद होता है देखिए ये बहुत बड़ी चीज है भजन में कई भजन में इतने सुंदर सुंदर वाक्य होते हैं अद्भुत रहस्य होते हैं हम लोग जो है गुरु स्त्रोत्र में जब गुरु की वंदना करते हैं अखंड मंडलाकार व्याप्तम ये न चराचर तत्पदम दर्शितम ये न तस्मय श्री गुरुवे नमः हे गुरुदेव आपके चरणों में नमन है जो अखंड मंडलाकार हमारी दृष्टि आज दुनिया के बारे में ऐसी है कि सब खंडित है सब अलग अलग है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है एक देवता दूसरे देवता से अलग है जीव भगवान से अलग है इसको बोलते हैं खंड की बुद्धि अगर खंड की बुद्धि जिसके अंदर होती है उसको ही मूल रूप से अज्ञानी बोलते हैं और जब आपको गुरु की कृपा प्राप्त होती है गुरु की कृपा की प्राप्ति का मूल लक्षण होता है अखंड मंडलाकार व्याप्तम ये नचराचर एक ऐसा इस खंड के प्रोत करता हुआ व्याप्त करता हुआ एक अखंड तत्व विद्यमान है उस अखंड तत्व को उस सत्य को जो जान जाता है गुरु की कृपा से ये देखा जाता है सबकी सच्चाई दिखाई पड़ जाती है और सबकी सच्चाई या हम लोगों का हिंदू धर्म कहता है ये वेद कहते हैं आपकी सच्चाई परमात्मा है आप परमात्मा के अंश हैं हर प्राणी हर जीव और कोई नहीं कहता ये चीज पूरी दुनिया के धर्म देख लो इतनी बड़ी बात कोई नहीं कहता यहां हम लोगों का ज्ञान का स्वरूप यही है कि कोई भी जीव हो उसके कर्मों से उसके गुणों के वजह से उसको ये योनि मिली है ये चोला मिला है गुण और कर्मों से ही व्यक्ति को प्रत्येक जीवन में नई नई योनि प्राप्त होती है गीता के अंदर चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण का वाक्य आता है कि अर्जुन यहाँ जितने हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः गुण और कर्म से ही अनेकों लोग वर्ण आश्रम योनि सब कुछ केवल गुण और कर्मों से बनता है तो किसी का गुण जो है बड़ा सात्विक है किसी का राजसी है किसी का तमसी है किसी के कर्म किसी बहुत पुण्य वाले हैं एक क्षेत्र में है दूसरे क्षेत्र में है गुण और कर्म ही देखते हैं हम तो ये गुण और कर्मों से तो हम लोगों को ये शरीर मिला है लेकिन मूल तत्व तो हम लोगों का क्या है ये ज्ञान की बात है तो मूल ज्ञान तो सब दुनिया खत्म करता है अभी जो है चारों तरफ इतना खंड है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की बैर होता है और अभी सबसे बड़ी मुसीबत तो इराक में चल रही है वहां पे मुस्लिम लोग आपस में मारे कूटे जा रहे खत्म करे जा रहे तो दोनों मुसलमान एक शिया दूसरे सुन्नी शिया सुन्नी आपस में ही मारे जा रहे खत्म करे जा रहे पुरानों में कहावत आती थी कहानी आती है कि एक समय आएगा कि राक्षस लोग आपस में मार मुर के खत्म हो जाएंगे हाँ? आज ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही सुन्नी जो है वो मेजोरिटी है और शिया थोड़े से अल्प है माइनॉरिटी ईरान वगैरह जो है शिया देश है इराक और ये सब अनेक दूसरे 90 परसेंट सब सुननी उन लोगों का भेद इतना बचकना है दोनों जो है कुरान को मानते हैं दोनों मोहम्मद साहब को मानते हैं एक बस ये बोलते हैं कि उनके जो परिवार के लोग थे वही आचार्य होंगे वही इमाम होंगे और ये बोलते नहीं उनके द्वारा बनाए हुए उस समय के जो शिष्य हैं उनके अनुयायी हैं उनके आशीर्वाद के पात्र हैं वो भी इमाम हो सकते हैं ये मूल भेद है उन लोग और ये जो है मानने को तैयार नहीं और मारा कुटी का अब ये कौन सा ज्ञान है यहां तुमको चारों तरफ अपने ही भगवान को यार जिस रूप से भी जानो उनको अल्लाह मियाँ बोलो या जो भी मियाँ बोलो कम से कम तुम्हारे अल्लाह मियाँ तो चारों तरफ दिखने चाहिए यार वो तो कण कण में व्याप्त होने चाहिए दिख रहे कि नहीं तुमको अपने भाई में तो दिख नहीं रहे हिंदुओं में कहा दिखे इसीलिए बड़े खतरनाक विचार है ये ऐसे विचार हैं जो दुनिया को सदैव तोड़ेंगे खंडित करेंगे विभाजित करेंगे हिंसा लाएंगे अरे नेता लोग सोचते थोड़ी है उनको तो जो है वो चाहिए हमारे अडवाणी जी जाके जिन्ना की स्तुति करके आए बेचारे के मुस्लिमों का वोट तो मिल जाए क्या कुछ नहीं करते हैं लोग उसके बाद से जो निष्कासित हुए जो सबकी नजरों से गिरे हैं आज तक नहीं उठ पाए और ये हमारे मोदी जी भी जो है ना अभी कोई लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे वो भी ज्यादा जो है अभी सहारनपुर में चल रहे झगड़े गुरुद्वारे को जाके लंगर हो रहा था जाके किसी जमीन के झगड़े से सब लंगर तोड़ दिया जला दिया खत्म कर दिया कोई कुछ नहीं बोलता सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं होता अब पहले तो ठीक है मौन मोहन सिंह बैठे थे पहले तो लेकिन ये भी मौनी हो गए आजकल देखो जो सोशल साइट्स है ना ट्विटर वगैरह फेसबुक मोदी जी की हंसी उड़ाई जाए उसे लगता है पावर की सीट ऐसी विकृत होती है कि वहां जाके आप भी मौनी बन गए हो क्यों नहीं बोल रहे हो कौन सा तुमको लालसा है कौन सी कुर्सी की चिंता है क्यों इन लोगों के लिए तुम जो कर रहे हो वही काम कर रहे हो जो वहां पे सुन्नी लोग कर रहे हो जो सच्चाई है बोलो ना जो खंड की बुद्धि है उसको दूर करो परायापना घर में भी होगा आज में नरक बन जाता है दो लोगों के विचार नहीं मिलते हैं प्रेम नहीं होगा अपनापन नहीं होगा देश में जो है परायापना रखो तो देश मुसीबत हो जाएगा दुनिया में परायापना रखो एक देश दूसरा देश ये भी अगर अंततः हमने बुद्धि रखी एक देश का दूसरे देश से झगड़ा वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व हमारा कुटुंब है ऐसे ज्ञान की दृष्टि वाले लोग ही सच्चे ज्ञान से हैं तो जो ज्ञान के सागर होते हैं वो कहीं भगवान को पराया नहीं देखते हैं ज्ञान के सागर जब हनुमान जी को बोलो आप हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आप ज्ञान के सागर हैं तो जहां ज्ञान के सागर किसी को बोलो तो ये समझो ज्ञान मतलब मोक्षदायी ज्ञान सबसे कल्याणकारी ज्ञान वही होता है जो पराया पना दूर करे खंड को दूर करे भेद को दूर करे जो ज्ञानी होते हैं वो तो पक्षियों में पक्षियों में पेड़ों में पौधों में सूर्य में अग्नि में चंद्रमा में वायु में पृथ्वी में सबको वह विश्व रूप देखते हैं गीता का ग्यारहवा अध्याय ही है विश्व रूप योग पूरा विश्व भगवत में देख रहे हैं उनके लिए भगवान का रूप देखिए कैसा है भगवान का ज्ञान रखते हैं तो भजन प्रारंभ में अच्छा है लेकिन बगैर ज्ञान के भजन क्या करोगे किसका भजन करोगे गीता में एक जगह भगवान कृष्ण अर्जुन को सचेत करते हैं बोलते हैं अर्जुन देखो ध्यान रखो तो हमारे बड़े भक्त हो उनको पता है हमको कौन से भक्त पसंद है जो कम से कम हमको शरीर ना देखे जो हमको केवल ये माया का बना शरीर देखते हैं वो हमारे वक्त नहीं है अब जानती माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव म ये लोग परम भाव को जानते ही नहीं है मूर्ख लोग हैं जो हमको शरीर समझ रहे हैं कम से कम अपने भगवान को तो शरीर मत समझो यार तुम अपने आप को माने वो लोग हम शरीर हैं भगवान ये शरीर हमारा इतना बड़ा हो गया है ये उम्र हो गई है काले हैं गोरे हैं स्त्री हैं पुरुष हैं जो शरीर के धर्म है आज यही हमने अपना समझ रखा है यही अज्ञान होता है चलो ठीक है यार तुम अपने आप को जो भी समझ रहे हो लेकिन भगवान को शरीर मत समझो भगवान को तो तुम सच्चिदानंद देखो भगवान को तो तुम अखंड मंडलाकारम देखो जो सब भेदों से रहित हैं आकाश की तरीके से सबको अपने हृदय में समाये हुए हैं जैसे सागर की अनंत लहरें सागर से ही आती हैं सागर में रहती हैं सागर में चली जाती हैं वैसे जितने प्राणी हैं जितने जीव हैं सब लहरों की तरीके से परमात्मा में ही उत्पन्न हो रहे हैं स्थित हैं और उनमें चले जाते हैं अगर आप पानी को देख रहे हो तो आप परमात्मा को ऐसो देख रहे हो सबको व्याप्त करे हुए कोई भेद की नहीं नाम रूप से भगवान को नहीं देखो ये ज्ञान की बात है जो भगवान को नाम रूप से देखता है अब देखिए रुद्राष्टकम पढ़ते हैं ना हम लोग रामायण में हम्म? तो उसमें भगवान को सच्चिदानंद की तरह से देखते हैं अनेकों स्तुतियों में स्तोत्रों में भजनों में श्लोकों में प्रार्थना में सच्चिदानंद सत्ता को कौन काट सकता है आकाश को भी काट सकते हो क्या आकाश को टुकड़ों में विभाजित कर सकते हो ऐसा करना है कि तलवार लेके जाना और अपने घर में खूब घुमा देना क्या आकाश के टुकड़े गिरेंगे ना आकाश के टुकड़े नहीं गिरेंगे तुम्हारे महसूस बन जाएंगे बस और कुछ नहीं होगा जब हम आकाश के टुकड़े नहीं कर सकते भैया तो आकाश जिस सच्चिदानंद से उत्पन्न हुआ है कौन दिवाले कौन तलवार कौन जो है रेखाएं भगवान को काट सकती हैं ऐसे भगवान की स्तुति राम जी का मतलब क्या है जो सब में रम रहे हैं जो कण कण को व्याप्त करते हैं उसको राम बोलते हैं जब हनुमान जी राम जी का भजन करते हैं तो क्या राम जी की फोटो आती होगी उनके मन में आपको एक रहस्य की बात बताएं जिस समय भगवान राम ने सुग्रीव से बात करी कि भाई सुग्रीव अब तुम अपना हमारी मित्रता हो गई है तुमसे अब बरसात का समय है थोड़ा बरसात बरसात कम हो जाए तो तुम जाके वाली से निपटो और ये सब जो है अपना राज्य वापस ले लेना और हम तुम्हारे साथ रहेंगे हमारा आशीर्वाद है ये वो तीन महीने बरसात का उसके बाद राम जी अपने स्थान में और सुग्रीव अपने स्थान में बैठे हुए कुछ नहीं बोला भगवान जी और जिस समय समय बीत गया तब भगवान रास्ता देख रहे थे बल्कि बाली को तो पहले मार दिया था वो राज्य कर रहे थे हाँ बाली का वध हो चुका था और मतलब बरसात बीत जाए उसके बाद सीता जी को खोजने के लिए चारों तरफ आयोजन चालू करना बोला आओ महाराज बिल्कुल बरसात निपट जाए तो भेजता हूं बरसात निपटने लगी खत्म होने लगी और सुग्रीव महाराज को ऐसे राजशाही भोग में पड़े हुए थे वो तो इस तरीके से रम रहे थे कि भेजने का नाम ही नहीं ले तो लक्ष्मण जी का स्वभाव तो सबको पता ही है लक्ष्मण जी ने बोला भगवान आपकी आज्ञा हो तो जाते हैं बोला नहीं ऐसा है गुस्सा मत हो जरा शांत रहो तुम ऐसा करो बुद्धिमत्ता से शांति से उनको बता दो जाके और ऐसा ऐसा करना हनुमान जी को बता देना वो निपट लेगी देखिए इसकी कहानी का मतलब पता क्या है तीन महीने हनुमान जी राम जी से मिलने नहीं आए चातुर्मास के समय हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में ही रहे चातुर्मास थोड़ी दूर पे राम जी का वन में चल रहा था हनुमान जी उनसे कोई भी जो है वह मिलने के लिए डेली नहीं पहुंच रहे अरे राम जी बैठे यहाँ चलो मिलाते जाके थोड़े दर्शन कराते जाके उनका सत्संग कर लेंगे उनकी सेवा कर लेंगे आके कुछ नहीं तीन महीने हनुमान जी भी नहीं आए लक्ष्मण जी तीन महीने के बाद उनके पास गए और बढ़िया इतना सुंदर प्रसंग है वो उन्होंने जिस तरीके से हनुमान जी को बताया है संकेत करा हनुमान जी ने बोला बस महाराज आप चिंता मत करिए हम इसको हैंडल कर और वो देखने योग्य है कि हनुमान जी की वाणी जहां जहां रामायण में आती है ना उसको बहुत ध्यान से पढ़ना अनेकों ज्ञान के रहस्य भरे होते हैं सुग्रीव जी से जैसे इन्होंने बात करी है किसी व्यक्ति से काम निकालने के लिए कौन सी नीतियां अपनाई जाती हैं उसकी संहिता है वो उसके सब रहस्य हैं तो बोलते हैं देखो चार नीतियां होती हैं साम दाम दंड भेद काम निकलवाने के लिए पहले शांति से बोलो फिर उसमें कोई प्रलोभन भी दो साम दाम दंड फिर उसको थोड़ा डराने की जरूरत पड़े तो ऐसे दो चार शब्द बोल देना नहीं तो नहीं तो, तो क्या हो जाएगा बाकी आज समझदार हो जाएगा और अगर दंड भी काम नहीं करे तो भेद बुद्धि से काम निकलवा लिया जाता है तो ये सब नीतियां हनुमान जी ने ऐसी अंदाज से बताई पूरा प्रसंग तो आपको बताएंगे तो हमारी हमारी शरीसा रह जाएगी भैया लेकिन आपको संकेत कर दें कि उन्होंने अंत में ये बोला है कि महाराज हे सुग्रीव आपको ध्यान है ना अंगद को राजकुमार क्यों बनाया था समझ रहे हो ना ऐसे भड़क गए उनके अंदर सब लाइटें जल गई बोलते हैं हाय यार तो समझ ध्यान नहीं हुआ सब तैयारी है उनकी अगर काम वाम नहीं करोगे तो राजकुमार तो बना ही चुके हैं युवराज तो बन ही चुके हैं और इनसे ज्यादा बलवान तो आप हो नहीं चुटकी में आपको यहां से दफा करेंगे उसको राजा बना देंगे तो महाराज जी भलाई इसी में है कि कर लो हम हाँ, बढ़िया प्रश्न है कैसे हनुमान जी ने थोड़े शब्दों में उनसे जो है काम हनुमान जी को जिस भी मिशन पे भेजो ना वो सब काम में हो जाएगा बुद्धिमान ज्ञानवान इसीलिए है ज्ञान गुण सागर ऐसा ज्ञान से काम लेते हैं बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं जिस समय हनुमान जी जा रहे थे लंका उस समय देवताओं की जो है बड़ी चिंता थी यार रावण के पास जा रहे हैं ये वानर अकेला जा रहा है बुद्धिमान है कि नहीं समझदार है कि नहीं तो सुरसा नाम अहिंक माता और देवताओं ने जो है वो सर्पों की माता सुरसा को बोला जाके परीक्षा लो टेस्ट लो जाके तो जाके प्रकट हुई और बड़ा विशाल रूप लिया और जो है चलो देवताओं की बड़ी कृपा हुई हमारा भोजन मिल गया बहुत दिन से भूखे थे और मुंह खोला अच्छा उन्होंने ये बोला कि भोजन मिल गया है देखो हनुमान जी की दृष्टि बोला ठीक है माता जी आपने भोजन की दृष्टि से देखा है तो हम वचन देते हैं कि आपके मुंह में जरूर आ जाए लेकिन इस समय हम राम जी के काम से जा रहे हैं अभी हमको जाने दो फिर हम आके जो है अगर हमारा वचन हो गया है तो हम आपके मुंह में प्रवेश प्रवेश कर रहे हैं बोला वाह तुमने हमको मूर्ख समझ रखा है किसी के हाथ का खाना उसके हाथ में आए बोला अभी आता हूँ शेर के मुंह से हिरन बोलता है मैं जा रहा हूं अभी आता हूं ऐसा कहा होता है तो बतियाती रही उनसे बोलती रही हनुमान जी ने भी सोचा यार कोई दाल में काला है कोई भी किसी शिकार से कोई बातें थोड़ी करता है कोई भगवान ने खाना भेज दिया अरे ज्यादा भूख लगी तो खा लो ना वार्तालाप क्या कर रही है उनको लगा कुछ दाल में काला है तो उन्होंने जो है शरीर बड़ा करा तो उसने मुंह बड़ा करा फिर इन्होंने बड़ा करा तो उन्होंने बड़ा करा अब जैसे कोई कंपटीशन चालू हो गया और सौ योजन एक योजन आपको पता है कितना बड़ा आठ मील का होता है आठ सौ मील जितना ऊंचा मुंह खोल गया और ये दुगने हो गए लेकिन हनुमान जी की बुद्धिमत्ता देखो कि ये कंपटीशन सदैव अहंकार का खेल होता है अभिमान का खेल हम तुमसे बड़े हम तुमसे श्रेष्ठ है अंततः अग्नि का केवल अभिमान पुष्ट होता है हमारी गाड़ी तुमसे तो बड़ी है हमारा जो है ये तुमसे बड़ा है हमारे पास ज्यादा धन है हमारा केवल अभिमान करके होता है दूसरे के पास है तो हम उससे ज्यादा उससे ज्यादा एकदम छोटे हो गए और उसके मुंह में प्रवेश भी करा अपना वचन पूरा करा और बाहर निकल के प्रणाम करते हुए माता जी अब आज्ञा दो वो तो ऐसी प्रभावित तो हो गई और अपना वास्तविक रूप लेके पूरी असलियत बता दी बोला देखो भैया ऐसा था देवताओं ने भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम डिस्टिंक्शन से पास ऐसी जो है आशीर्वाद अलग दिया जो खाने आई थी उससे भी आशीर्वाद विभीषण से एक बार मिले ऐसी बातें करते हनुमान जी की वचन तो गजब का होता है दिल जीत गया रहस्य पहली बार मिले और लंका में राजा के भाई को जेब में रख के सब रहस्य जान के सीता जी का तो सोचो कि सबके प्रति श्रद्धा ही खत्म हो चुकी साधु के वेश में आके किसी ने उसका अपहरण करा हुआ था अब किस पे विश्वास करे ऐसी महिला लेकिन क्या बात करी ऊपर से बोलते हुए क्या वातावरण बनाया उन्होंने कैसे धीमे धीमे राम जी की पहले स्तुति कर रहे थे भजन कर रहे थे उनके मन के अंदर जो है प्रसन्नता हो रही थी और बड़े छोटे से बालक रूप से उनके सामने प्रकट हुए माता हम माता जी हमको भगवान ने भेजा है वो माँ है तो ऐसी वात्सल्य उत्पन्न हुआ बच्चा रूप से कोई आया है और उनसे सब बड़ी बड़ी बातें अंगूठी वगैरह वो सब प्रसन्न बाद में सीता जी बोलते हैं क्यों भाई सभी तुम्हारे साइज के हैं क्या हाँ? क्या जितने रावण को जीतने ये वानर तुम्हारी सेना तुम्हारी जैसे हैं तो वहां पे माँ के पास छोटे होके ही जाना चाहिए कितने भी बड़े हो जाओ माँ के पास छोटे होके जाते हैं तभी उनका स्नेह वात्सल्य मिलता है उनका दिल जीत लिया उनका विश्वास जीत लिया ऐसी वाणी ऐसा आचरण और उसके बाद तो पहाड़ विशाल काय खड़े हो गए और उनका पूरा विश्वास जीत लिया कॉन्फिडेंस हो गया कहीं पर रावण से जब उनका सत्संग होता है हम तो उसको सत्संग कहेंगे रावण के लिए तो दुस्संग हाँ, रावण के लिए तो मुसीबत हो गई ऐसे ज्ञान बुद्धिमान कोई भी चुनौती कोई भी परिस्थिति कोई भी घटना हनुमान जी रास्ता निकालते हैं उसको ज्ञान बोलते हैं जब आप चिंता नहीं करो घबराओ नहीं और कोई ईगो का इश्यू नहीं आओ रास्ता निकल जाता है हर जगह से व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए धर्म का ज्ञान होना चाहिए और ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए आगे स्तुति कैसी होती है ये तो आगे की बात है लेकिन हनुमान जी को सबसे प्रथम बिंदु ज्ञान गुण सागर बस यही रुक जाओ देखो हनुमान जी के अंदर सब ज्ञान समान हुआ है राज्य लेना उनके चुटकी की बात थी सुग्रीव को राजा उन्होंने बनाया किंग मेकर थे वो विभीषण को राजा उन्होंने बनवाया राम जी को अयोध्या दिलवाने के लिए भी क्या योगदान था सब जानते हैं जहां जाते थे सबका कल्याण कर रहे हैं लेकिन खुद जो है इतने परिपूर्ण है अभेद दृष्टि अखंड दृष्टि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न तस्मय श्री उनके गुरुदेव ने तो अखंडता का ज्ञान दे दिया है पूर्ण हो गए हैं अपने अंदर अपने आप में पूर्ण है ऐसे तत्व का ज्ञान व्यवहार का ज्ञान धर्म का ज्ञान भक्ति का ज्ञान ज्ञान के सागर हैं हमारे हनुमान जी अब हनुमान जी की स्तुति प्रारंभ करो इस नजरों से देखो अभी तो हमने श्री गणेश करा भैया बता दे अभी ज्ञान सागर का मतलब क्या होता है कुछ दो चार ज्ञान की चीजें तो पता लगे वेदों में ज्ञान किसको कहा है थोड़ा समझ लो ज्यादा डिटेल में टेक्निकल नहीं बताएंगे एक जो प्रसंग हमको बैठे बैठे याद आया है हमने रामायण में हुआ चौपाई वो होना देखे लक्ष्मण जी ने अरण्य कांड में जब बैठे हुए थे भगवान बड़े प्रेम से आराम से उस समय भगवान राम से लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न करे बोले प्रभु ज्ञान क्या होता है भक्ति क्या होती है माया क्या होता है जीव ईश्वर का भेद कैसे होता है और दूर कैसे होता है विराग किसको बोलते हैं सब ज्ञान की बात है वो उनसे पूछी राम जी से और क्या सुंदर सरल शब्दों में राम जी ने बताए हैं वो ज्ञान की है हमारे हमें प्रेरणा हो रही है कि आपको वो सब थोड़ा बताएं क्योंकि जब ज्ञान के सागर बोलते हैं तो कौन सा ज्ञान है इनमें ये थोड़ा सा राम जी क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी को अगली बार आप भी थोड़ा पढ़ के आ जाना हमने वो रेफरेंस भी दे दिया है आपको और गुण कौन से होते हैं अगर आपको समझना है तो हम उसका भी आपको एक रेफरेंस देते हैं हम ये दोनों चीजों की चर्चा आप अगली बार करेंगे गुण जो है एक बार राम जी जब लंका में पहुंच गए तो रावण सामने आया था लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध का श्री गणेश होने वाला तो विभीषण बेचारे बहुत ही विजय हो जाते हैं और जाते हैं राम जी के पास बोलते हैं प्रभु बड़ा अनुचित हो रहा है क्यों क्या हो गया बोलते हैं महाराज जी देखो तो रावण इतने महान रथ में बैठा हुआ है कवच कुंडल आदि से युक्त है हाथ पैर अच्छी तरीके से उसके प्रोटेक्टेड हैं उसके पास धनुष के अलावा गदा है चक्र है अनेकों प्रकार के भाले हैं क्या क्या है वो कौन कौन सी सिद्धियां उस देवताओं से सब लाया है सब कुछ से सुसज्जित खड़ा है और आप विरथ रघुवीरा आप रघुवीर तो विरत हैं जमीन पर खड़े नंगे पैर खड़े कोई कवच नहीं कोई और नहीं केवल हाथ में नंगे पैर खड़े हुए उनको जो है वह पिताजी ने आज्ञा दी थी मुनि के वेश में रहना है शहर में गांव में प्रवेश नहीं करना है नंगे पैर खड़े हुए मुनि का वेश धारण करे हुए हाथ में धनुष बाण है और रावण से लड़ने जा रहे हैं रावण कोई छोटा मोटा था नहीं उस समय का इतना भयंकर आतंकवादी था लोग देवता लोग काफी जाते तो वो जो है जब बोला उन्होंने तो भगवान ने उसको समझाया विभीषण को खड़े होके बोलते हैं कि विभीषण जिस रथ के ऊपर बैठ के युद्ध जीता जाता है ना कोई और रथ होता है और उन्होंने कुछ गुणों से युक्त रथ का वर्णन किया उसको बोला जाता है धर्म रथ धर्म रथ का उन्होंने वर्णन करा बोलते हैं कि विभीषण जो इस रथ पे बैठता है ऐसे गुणों से युक्त होता है वो व्यक्ति जीवन में विजयी होता है तुम थोड़ा धन दौलत गाड़ी घोड़ा खरीद के तुम सोचते हो कि तुम विजय के ऊपर जा रहे हो मूर्ख हो तुम तुमको पता है कि कितना टेंशन हो रहा है कितनी चिंता हो रही है कितनी घबराहट हो रही है कितना ब्लड प्रेशर हो रहा है कितने हार्ट अटैक हो रहे हैं डॉक्टर के बढ़िया पेशेंट बन रहे और कुछ नहीं हो रहा है और तुम सोच रहे हो कि जीवन में विजय प्राप्त करने जाओ कुछ और गुण होते हैं भैया और वो जो भी गुण होते हैं जो राम जी ने विभीषण को बताए वो भी आप पढ़ लेना जरा अगली बार हम इसकी चर्चा पूरी करते हैं केवल इस शब्द का अर्थ जानने के लिए कि ज्ञान गुण सागर का मतलब क्या होता है जिसमें ये ज्ञान है जो तो ऐसे गुणों से युक्त है हनुमान जी के अंदर वो ज्ञान विद्यमान है जो राम जी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं वो गुण विद्यमान है जो राम जी ने विभीषण को बताए अगर ऐसी नजरों से हनुमान जी को न देखो तो क्या स्तुति करोगे यार क्या भजन करोगे क्या हनुमान चालीसा का पाठ करोगे कौन सी उपासना करोगे तुम हनुमान जी को वो देख ही नहीं रहे होगे उस नजरों से पाठ करना केवल खोखला उससे तो काम थोड़ी बनता है अनुपे के साथ इस नजरों के साथ तो जय हो और ऐसा नजरों से देखो कि आपके अंदर जय हो अपने आप निकलने लगे जहां उनको ज्ञान का सागर देखो गुणों का सागर देखो सहज रूप से हाथ जुड़ जाए सर झुक जाए और जय हो की बात निकलने लगे तब जाके आगे हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई पढ़ना तब तक वो तो हनुमान चालीसा में आगे प्रवेश करने के पूरे पात्र नहीं बने पहले ही अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग पहली चौपाई को जरा फुर्सत में देखें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तो थोड़े ज्ञान के जो भगवान रामायण में अगर हम उपनिषद की बातें बताने लगेंगे तो सबको शुरुआत में जटिल हो जाएगा सूक्ष्म हो जाएगा इसीलिए हमने वो प्रसंग आपको दोनों रामायण के अंतर्गत के बताए बड़ी सरल होती रामायण सुंदर होती है इसीलिए रामायण का पाठ करा जाता है घर घर में उसका अध्ययन करा जाता है श्रावण मास में तो विशेष रामायण का पाठ चलता रहता है तो ये दो प्रसंग रामायण के एक अरण्य कांड में जो राम जी ने विभीषण को बताया है इसको बोलते हैं राम गीता और उसका नाम है विभीषण गीता रामायण में सात गीताएं हैं सात गीताओं में ये दो गीता हैं जो राम जो ज्ञान देता है ना वही तो गीता है तो ये जो दो गीताएं हैं इन दो से हमको ज्ञान सागर और गुण सागर शब्द का रहस्य तो वो फिर आपको हम अगली बार और चिंतन करेंगे इस बार हमने उसकी भूमिका बनाई कि आप हनुमान जी को बड़ी ठोड़ी वाले हाँ तो बड़ी ठोड़ी वाले को मन में लाने का अभ्यास करो थोड़ा आंख बंद करके सवेरे सवेरे जो विशाल बढ़िया शरीर देखो स्वस्थ शरीर स्वस्थ हृदय स्वस्थ बुद्धि पूरी स्वस्थता स्वस्थता केवल शरीर की नहीं होती आजकल के डॉक्टर लोग मुझे ही सोचते हैं ब्लड प्रेशर कितना है शुगर कितना चल रहा है हाँ, स्वस्थ स्वस्थ जाओ मजे जाए यहां हम लोग इसको स्वस्थ नहीं बोलते हैं स्वस्थ है तो हनुमान जी जैसे शरीर स्वस्थ प्राण स्वस्थ मन स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ ज्ञान सुंदर इसको हम पूर्ण स्वस्थता बोलते हैं कम से कम हनुमान चालीसा के पाठ के चक्कर में स्वस्थता की परिभाषा को तो बड़ा कर ले हाँ, तो ये स्वस्थ हनुमान जी उनको देखो आंख बंद करके और सुंदर विशेष बड़ी थोड़ी जो वज्र को भी सहले सब देवी देवताओं ने आशीर्वाद ही दे दिया कहां दूसरे के पास जा रहे ठीक है जहां जहां कुछ गुण देखो नमस्कार कर लो साईं बाबा को भी नमस्कार कर लो तो आजकल बड़ी लंबी डिबेट चल रही है हमारे द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी बहुत आपत्ति उठा रहे हैं बोलते हैं यार तुमको राम जी में कमी क्यों दिखाई पड़ती है कि साईं राम बोलना जरूरत नहीं कि राम जी अधूरे हो तो उनको कोई जोड़ के साई राम बोलो जो अपने आप में ही पूर्ण है पूर्ण मदाह पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते उस पूर्ण के साथ केवल अज्ञान और समझी से तुम तो किसी को छोड़ रहे तुम्हारी नजरों में साई भी अपूर्ण है राम भी अपूर्ण है जब दोनों यिंग यांग जुड़ेंगे ना तभी पूर्ण होते बुद्धू पूर्ण देखो अपने भगवान को तो पूर्ण देखो और यहां हनुमान जी को पूर्ण देखो तब उपासना होती है तब भजन होता है तब ध्यान होता है नहीं तो केवल तोते का पाठ होता है हाँ, बोलते रहोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है एक छोटी सी कहानी बता के हम समापन करेंगे कि एक बार एक शिकारी था वो जाके तोतों को पकड़ता था जंगल से और शहर में बेचता था तो एक बार उसको किसी जंगल में जाना था तो वहां पे कोई एक संत पहले पहुंच गए उन्हें बोला है देखो ये शिकारी आदमी आता है बेचारे स्वच्छंद मुक्त प्राणी है पकड़ ले जाता है बेच बात देता है पिंजरे में बंद रहते हैं वो अच्छा नहीं होता तो ऐसा करते हैं इन लोगों को ज्ञान देते तो उन्होंने सब कुछ दो चार बड़े बड़े अच्छे तोताओं को बुलाया बोला बैठो आप इधर और सबको ज्ञान दिया बोला कि देखो बोलो हम बोलते हैं उसको रिपीट करो आ, क्या उसको क्या बोलते हैं बहेलिया बहेलिया तो बहेलिया आएगा जाल फैलाएगा दाने डालेगा हमको पकड़ के ले जाएगा तो उनको दो चार बार बोला तो तोतों का तो इतना बढ़िया सामर्थ होता है जल्दी सीख जाते हैं और सब लोगों ने चैंटिंग चालू करी दस रिपीट करो और दो चार बार बोला सब लोगों ने इतने बढ़िया सुर में चालू करा बोलना पहलिया आएगा जाल फैलाएगा दाने डालेगा पकड़ के ले जाएगा तो खुश हो गए बोला चलो अब तो इतने तो बेचारे मुक्त हुए चलो दूसरे जंगल में चलते वहां मुक्त करते हैं तो संतों का स्वभाव ही ऐसा होता है तो वो तो चला गया और ये बहेली वगैरह सब पक्षियों की आवाजें भाषा समझते हैं तो बहेली आया जाल फैलाया और तब से चारों तरफ आवाज चालू हुई कि बहेलिया आएगा जाल फैलाएगा दाने डालेगा पकड़ के ले जाएगा बोला रे ये कौन ज्ञानी आ गया यहाँ ये अज्ञानी लोगों को सब ज्ञान लेके चला गया अब तो यार हम तो अनएम्प्लॉयड हो गए ज्ञानियों को फंसा नहीं सकते अज्ञानियों को फंसाते रहते हैं अब तो कोई दूसरा धंधा ढूंढना पड़ेगा उसने डाल तो दिया था वो सब दाने वाने और जाल लेकिन पेड़ के नीचे बैठ के बड़ा शोक ग्रस्त था और सोच रहा था कि देखो भाई ये ये काम हो सकता है वो काम हो सकता है अब कहाँ जाएंगे अब ये पता नहीं क्या दुनिया में हो रहा है सब समझदार होते जा रहे हैं सब ज्ञानी होते जा रहे हैं तो बेचारा सोच ही मना रहा था तब तक अनेकों जो चहचा रहे थे पक्षी लोग उजाल में आके बैठे और दाने खाने लगे बोला अरे शायद अच्छा, उन्होंने हमको देखा नहीं है इसीलिए बैठ गया दबे पांव गया और जाके फट से जाल को बांधा उसने पकड़ लिया और अपने कंधे पे डाला कंधे पे डालने के बाद भी वो क्या बोल रहे थे बहेलिया आएगा जाल फैलाएगा दाना डालेगा पकड़ के ले जाएगा और पेट भर के हंसा और बला सब खोखले शब्द हैं अज्ञानी लोगों के वचन है पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं लोग हम्म? जब तक ज्ञान नहीं है तब तक भजन का कोई मतलब ही नहीं इसीलिए समझदार बनो भजन जरूर करो लेकिन किसका भजन करते हो कौन भजन करता है अच्छा भजन का तरीका क्या होता है कितने प्रकार होते हैं भजन के ये सब रहस्य जानो तो ज्ञान प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण चीज और हनुमान जी को तो ज्ञान का सागर देख रहे हैं तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ज्ञान के सागर में कौन सा ज्ञान आता है हनुमान जी के अंदर मूल ज्ञान क्या है राम जी ने लक्ष्मण को कौन सा ज्ञान बताया है वो फिर हम लोग अगली बार उस महत्वपूर्ण सुंदर प्रसंग में प्रवेश करेंगे तो इस बार यही पे समाप्त करते हैं श्री राम जय